कहु नाथ दिग सुख गए हो न प्रति उपकारा बंदम तब बदार दारा काम राम अनुरागी

कविन परित हरि न जाना निज परिताप द्रवल न वनीता दुख सुसंत पुनीता मन जन्म सुफल मन भयऊ प्रसाद संशय सब जयऊ जानहु सदा मोहिनी माता हरि विहंग

संत समागम समन लाभ बछुआनी हर कृपा न हो जिसो गावई वेद पुराण की वाणी सुन करके प्रतिबद्ध हो गया कभी प्रतिबद्ध तो मैं जो कुछ करना था तो कर लिया मैं धन्य हो गया अब मुझे कुछ करना शेष नहीं रह गया वैसे छुट्टी का ये था कि मोह उनको हो गया था मोह से छुटकारा चाहते थे तो उसी के लिए नारद जी के पास भी गए शंकर जी के पास भी गए और वहाँ से काबूसन जी के पास आए तो जो उनका मोह था वो दूर हो गया तो मोह दूर हो गया तो कभी कभी हो गया व्यक्ति की समस्या जीवन की जो है मुख्य रूप में बता दी बार बार कि मुख्य समस्या मोह ही है मोह सदन जागरूक पर गुंडा जैसे है बीच बीच में और जगह भी आती रहती है इसलिए ये सब बात जितनी भी जातियां हैं उन सबका कारण मोह है मोह मोह दूर हो तो व्यक्ति को जीव को शांति मिल जाए विश्राम मिल जाए उस मोह से छुटकारा ही मिला से छुटकारा केवल आसक्ति से छुटकारा नहीं है मोह से अविद्या से छुटकारा मोह अविद्या के अर्थ प्रयोग करते हैं परमात्मा के दर्शन को उसी के प्रमण करे रहे तब मोह का नाश हुआ तो ये हो जाने पर तब को कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता तब तक आ जाती है ज्ञान की दृष्टि से यही अंतिम सिद्धांत है कि जहाँ व्यक्ति की अविद्या का नाश हो आपके स्वरूप के दर्शन हो और चेतना आत्मा में स्थित रहे उसी के आनंद में स्थित रहने वाला फिर अपने आप को धन्य मानता है प्रतिपत्र मानता है संतुष्ट मानता है सब उसके धन में तृप्ति हो जाती है प्रकार से और सब भय चिंताएं आदि समाप्त हो जाते हैं वासनाएं भी समाप्त हो जाती है निष्काम शांति हो जाती है ये सब परिणाम ज्ञान वाले जीवन में भी आता है वैसे यहाँ पर भी है ये कहते हैं कि मैं कट कट कब वाणी तुम्हारी वाणी सुन करके कट कट हो गया समझाने में तो नारद जी ने भी समझाया था लेकिन कट कट नहीं समझाने को तो शंकर जी ने भी समझाया था लेकिन कट कट नहीं लेकिन यहाँ आकर के इनके कालभूषण की बात सुनी तब कट करती यहाँ ऐसा लगा कि कालभूषण जी के समय में भक्ति विशेष कहते हैं कि सुने रघुवर रघुवीर भगवती स्वामी क्योंकि तुम्हारी वाणी में एक विशेषता ये कि भगवान के भक्ति से समझते इससे ये भी पता चलता है कि भगवान का जो चरित्र सुनावे कावे उसमें भी इसी प्रकार के हृदय में उसके भक्ति विक्री हो प्रेम हो उसके साथ प्रेम से कर्पूत होकर के भक्ति से कर्पूर्ण होकर के कथा सुनावे तो श्रोताओं पर अवश्य इसका प्रभाव पड़ता है उनका मोह नष्ट होता है शांति शांति होती है राम चरण नूतनवती भई अब ये कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न हो गया अब भगवान के चरणों में अब जब इनको मोह दूर हुआ तो भक्ति आनी चाहिए तो मोह से संबंध इसका है जैसे मोह दूर हुआ तो ज्ञान आना चाहिए तो मोह दूर हुआ तो भक्ति भी आनी चाहिए भगवान ने प्रेम होना चाहिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान हो दर्शन हो राष्ट्र समझ में आ जाए और चित्त परमात्मा में बजे तो भक्ति बात भाव तो ये भक्ति भी हृदय में आनी चाहिए लोगों के निवृत्त होने पर तो ये कहते हैं भगवान के चरणों में ये पुनः भक्ति हो गई भक्ति के स्थान में अति शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य चित्त परमात्मा से हटता है प्रवृत्ति परमात्मा को भूलता है उसी दिन मेरे सदा अभिन रहता है इसलिए रति कहा लेकिन एक बात और भी नूतन रति भाई इसको मैंने पहले भी लिखी ये पहले भी मोह जब उत्पन्न नहीं हुआ जब युद्ध में भगवान के जाकर के उन्होंने सत्यों को नहीं खाया उसके पहले पहले भी भगवान ने भक्ति की सबके तो भगवान के वाहन बने सबके तो भगवान के साथ रहते हैं भक्ति पहले तो उनकी सेवा में भी थे भक्ति में थे लेकिन मोह के कारण से वो भक्ति गई कमी आ गई संदेह उत्पन्न हो गया तो अब जो वो फिर उसके बाद ये कथा सुनी और मोह दूर हुआ तो फिर बड़ी भक्ति आ गई दूसरी बात ये कि पहले भक्ति तो थी बहुत लेकिन अब और अधिक भक्ति आ गई तो सत्संग का प्रभाव ये है कि भक्तों के हृदय में भी भक्ति प्रबल होती है सत्संग पहले तो भक्त होंगे वो लोग सत्संग में जाएंगे लेकिन जब सत्संग होगा तो भक्ति पहले की अपेक्षा बढ़ेगी इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि पहले तो भक्ति बहुत थी तो आप क्या बढ़ेगी ऐसा नहीं भक्ति हाँ, निरंतर बढ़ती रहती है और वही भक्ति प्रशंसनीय है जो भक्ति रहेगा जाएगा और जिसमें विराम लग जाए वो भक्ति तो वो भक्ति भक्ति नहीं निरंतर भक्ति ही रहनी जाएगी बाकी ये हो गया कि राम चरण नूतन भई और माया जनित विपत्ति सब गई और भक्ति के विरोधी माया माया जो है मोह के परिवार की मोह गया तो माया दी गई ये माया जी कभी मोह गया तो जब माया जनित विपत्ति जब मोह नहीं रह गया माया नहीं रहेगी तो माया ने जो विपत्तियां उत्पन्न कर रखी थी वो समाप्त हो गई ये जो उनके मन में ये लगा कि भगवान राम जो है राम कैसे हैं परमात्मा कैसे हैं जो सर्पों से बन गए तो बुद्धि में जो ये है राम की उत्पन्न हो गई संचार अविद्या उत्पन्न हो गई ये है ये अविद्या माया है माया दो प्रकार की जो बोली एक माया जगत कृष्णा शक्ति विकल्प और एक माया वो जो बुद्धि में सत्य को मिथ्या मिथ्या को सत्य दिखाने लगती है उनका सुझाने लगती है यही ये जो दुर्बुद्धि है ये अविद्या जो है ये भी माया है अविद्या माया कहलाती उसके नाम तो ये अविद्या माया जीव को नाना प्रकार के क्लेश देती है देखिए मैंने कोई ऐसा नहीं तो वो एक विशेष है और फिर वो उसको नहीं मांगता है तो क्लेश देता रहता है अविद्या का परिणाम ये होता है कि प्रकृति उन वस्तुओं में सुख मानने लगता है जहाँ सुख नहीं जहाँ विश्राम नहीं मान काम होने वाला वहाँ विश्राम मानने लगता है तो इसका परिणाम ये होता है कि वहाँ जो होगा तो वहाँ दुख समझता है सुख प्राप्त होगा वहाँ प्राप्त होता है दुख ये माया या विद्या माया हो जहाँ वो समझता है कि हम इससे स्वतंत्र है जैसे किसी व्यक्ति को पास धन है तो अपने ढंग से उसकी अपने आप को सुरक्षित समझता है तो मेरे पास पैसा है जरूरत नहीं कि मैं किसी के बंधन में नहीं किसी का दिन नहीं तो उससे है जैसे मैं स्वतंत्र हूँ ये माया ये स्वतंत्रता नहीं है ये परतंत्रता है वो व्यक्ति अपने धन के अधीन है अब ये बातें सब जो है वो शास्त्र सुझावे तब पता चले व्यक्ति तो माया के कारण से अविद्या माया के कारण समझता जितना घर हो जाए उतने ही सुखी उतने ही स्वतंत्र उतने परमा किसी के अधीन नहीं हम बड़े महान ऐसे करके लगता रहता और ये है उनकी बात क्योंकि उनकी बात इसलिए इसी का नाम माया इस प्रकार की विपरीत बुद्धि जो होती है ये माया का कार्य और फिर ये प्रदुख देती है उसके परिणाम स्वरूप दुख होती है ये माया का कार्य ये जैसे तो माया जनित ऐसे शंकराचार्य ने बहुत जगह कहा कि जहाँ परमात्म जान हुआ तो अविद्या अपने परिवार के समेत नष्ट हो जाती है ऐसे बोलते हैं हाँ? तो अविद्या का परिवार क्या है अविद्या उत्पन्न हुई तो मोह हुआ मोह हुआ तो राजदेश हुआ राजदेश हुआ तो कान क्रोध लोग लोग मत छल पाखंड इत्यादि मानसिक विकार उत्पन्न हुए मानसिक विकार उत्पन्न हुए तो उसको संसार में उल्टा दिखाई देने लगा विपरीत दिखाई देने लगा मुझे नहीं करना चाहिए वो करने लगा जहाँ सुख नहीं है वहां ढूंढने लगा ये सब उसका माया का परिवार अविद्या का परिवार तो जहाँ अविद्या नष्ट हुई तो उसका सारा परिवार नष्ट हो जब कारण नहीं रहा तो कार्य पर नहीं रह सकता इसमें ऐसा नहीं अविद्या तो नष्ट हो गई लेकिन उसके परिवार अभी बाकी है उसमें होगा तो वो जो परिवार जितना था उसी के ऊपर निर्भर था अब विद्या माया के ऊपर जिसके नष्ट होती ये सब के सब नष्ट हो होती तो माया जनित विपत्त सब गई माया से उत्पन्न होने वाली अविद्या माया की विपत्ति समाप्त हो और मोह जनित बोही तुम भय मोह रूपी समुद्र के तो हमारे लिए जलद हो गए जिस जलद के लिए तुम भोजित हो गए भोरित बन जहाज तुम जहाज बन मैंने हम लोग रूपी समुद्र में डूब रहे थे तुम जहाज बन करके तुमने हमारा उद्धार कर दिया ये भी कहने के तरीका एक आप जाते थे मैंने मोह से हमारा छुटकारा कर दिया हम मोह से पार निकल गए माया समाप्त हो गई मोह भी समाप्त हो जाए मनुष्य जीवन का भी यही उद्देश्य है इसी से उसको वो हो मोह में पड़े हुए सभी जीव हैं वे अपने अपने मोह के सागर से पाप भगवान राम ने अयोध्या वासियों को जब उपदेश दिया तब उन्होंने ये बताया कि देखो ये शरीर जो है ये जहाज और इसमें कर्णधार सदगुरु जो आया और सदगुरु जो है वो हो उसका कर्णधार नर्तन भो बारिद कहूं मेरे और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे और कर्णधार सदगुरु ग्रहणावा और दुर्लभ साग सुलभ पर में करे सागर मन को सागर के पार होने के लिए ये सब साधन शरीर रूपी जहाज है और उसको चलाने के लिए अनुकूल पवन की भगवान की कृपा है और सदगुरु उसका कर्णधार है ये सब साधन इसके अब जब ये जो कोई शरीर ही अगर किसी का जहाज हो तो उसके लिए गुरु रूपी साधन की चलाने वाला जरूर पड़ेगा तब व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा मनुष्य शरीर पा करके संसार सागर से पार होगा उससे भी ज्यादा यहाँ सुलभ हो गया सत्संग की ये महिमा है कि व्यक्ति को फिर उसका शरीर मोहित बनने की जरूरत नहीं उसके लिए बच्चे जो है वो हो गुरु जो है वो हो वही भोहित भी बन गया वही कर्णधार भी बन गया वही अनुकूल पवन भी बन गया और उसी में सत्ता भी बन गया सत्संग की महिमा सत्संग की महिमा के कारण से प्रकाश सुना कि मोह जरित बोलित तुम भय और मोह कहनाथ विविध सुख गए आपने हमें बहुत सुख दिया बहुत सुख दिया मैंने संसार का अगर प्रकार होने के लिए हमें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा कोई शासन नहीं करना लेकिन कथा सुनते रहे और उपदेश सुनते रहे उनका कालभूषण जी का उससे सारा रोग दूर हो गया विद्या भी दूर हो गई सारा समाप्त हो गया सारी समस्या उतने ही मात्र से दूर हो गई विविध तो सुख गए अब अनेक प्रकार के सुख क्या है ये क्या उनके ध्यान में है उनके आगे तो सुखों का तो वर्णन करते नहीं है इससे यही तो सोचना पड़ेगा कि जरूरत के मन में क्या बात है किस प्रकार के सुख प्राप्त हुए नाना सुखों का ये अर्थ तो ही नहीं सकता यहाँ पर कि उनको फिर स्वादिष्ट भोजन का सुख मिल गया सुगंधित उनको पदार्थों का सुख मिल गया हाँ, उनको सुंदर रूप का सुख मिल गया इस प्रकार के विषयों का सुख मिल गया या यज्ञ का सुख मिल गया या कोई सर्व का सुख मिल गया इस प्रकार के सुख की तो कोई कल्पना यहाँ की नहीं जा सकती तो ये नाना सुखों के लिए ये नाना सुख जो है वो तो विवेक है वैराग्य है ज्ञान है ये ज्ञान है ये सब सुखदायी है ये जो वास्तव में अध्यात्म जितने जीवन का जो सुख है उन्हीं में जो जितना विरक्त है उतनी सुखी है जो जितना विवेकी है उतना ही सुखी है जो जितना ज्ञानवान है वो उतनी सुखी है विज्ञानी है उतना ही सुखी है भगवान के चरणों में जितना भी समर्पित है उतना ही सुखी है लोग कल्याण के कार्य में जितना लगा हुआ है उतना ही सुखी है ये सब सुख के मापदंड ही सुख देने वाले तत्व अध्यात्मिक दृष्टि से बस इन्हीं को सीखना समझना और करके देखना यही सब शिक्षा है शास्त्र वैसे व्यक्ति को तो माया जब तक घेरे रहेगी तब तक उनके सोचता रहेगा अरे वैराग्य में तो नाना प्रकार के दुख ही दुख है युद्ध मानते फिर अपने पास कुछ रखते नहीं सब परेशान होते रहो तकलीफ खाते रहो कभी सब्जी खाते रहो ऐसे वैराग्य से क्या फायदा ये तो दिखाई देने वाला है ऐसा सोचता क्यों क्योंकि चीज चीज वैराग्य को समझाने और उसके स्थान पर उसको सुखदायी वस्तु को सुखदायी मानते और जो दुखदायी है आसक्तियां हैं जिसे भोगों में लिप्त हैं ये सब दुख देने वाले और वो सुविधा लिप्त हैं इसलिए मोह से छूटे नहीं माया से छुटकारा हुआ नहीं जो सत्य है वो दिखाई देने लगा सत्य है जो वैराग्य में ही सुख है वैराग्य में ही व्यक्ति अभय है विवेक में ही सुख है ज्ञान में ही सुख है ये बात इसकी समझ में अब ये तो ये इस प्रकार का है सूत्र देश को सामने रखना चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करे सत्संग करे और अपने मन में देखने लगे कि कब वैराग्य आया आया तो समझना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे थे उसका फल प्राप्त ज्ञान उत्पन्न हुआ जो सत्य है वो दिखाई देने लगे समझ में आने लगे बुद्ध स्वीकार करने लगे तो समझे कि हाँ सात सत्संग का फल प्राप्त हो रहा है चित्त को विश्राम शांति मिलने लगे तो समझ में आए जहाँ जो उसका फल प्राप्त हो रहा है ये उसके जो जो है नाप नाप है किसी वस्तु की नाप नाप चोट इस प्रकार होने लगे तो वही बताते हैं जिस प्रकार से इस नाना प्रकार के सुख मोह नाप विविध सुख गए और मोह हो ही न प्रत्युपकारा और कहते हैं हमसे इसके बदले में प्रत्युपकार नहीं होता दिखाई देता है तथा भारतीय संस्कृत का सिद्धांत ये भी है कि अगर किसी से कुछ लो तो उसके बदले में उतना ही दो और कम न दो ज्यादा दो तो कोई ईमानदारी है और अगर दिया ज्यादा और दिया कुछ नहीं तो तो महान ताकत हो गया और अगर दिया बहुत तो दिया थोड़ा तो भी बेईमानी हुई सब बेईमान ले दिया ज्यादा दिया कम किसी दुकानदार के पास जाओ तुम एक की दस और एक सौ नब्बे और एक सौ पैसे ले लो किसी चीज से और तोल के दे आठ सौ ग्राम नौ सौ ग्राम हम्म? आप क्या कर खा ले दुकानदार तो हाँ? पैसे लीजिए पूरे दिया कम इसके मैंने जो कम दे और बदले में जो ज्यादा हो हर चलते तो ही सब जगह अब तो आत्मशास्त्र में भी इसी प्रकार से अध्यात्म शास्त्र में अध्यात्म विद्या से नाना प्रकार सुख भी प्राप्त करे ज्ञान प्राप्त करे भक्ति प्राप्त करे देश उसने अध्यात्म शास्त्र में तो कह देते ऐसे लोगों को विद्या फलती ही नहीं मनुष्य का जो फल प्राप्त होना चाहिए नहीं मिलेगा शाब्दिक रूप से ज्ञान भर लेगा का विवेक का वैराग्य का आत्मा का परमात्मा जान लेगा लेकिन जो विद्या का फल होना चाहिए विद्या का नाश करे चित्र को शांत शांति दे अगर सुखानुभूति हो वो उसमें उत्पन्न नहीं होगा वो फल उसको जब तक पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तब लेकिन उसका पेमेंट क्या है इस प्रकार का हाँ अब वो भी अब कोई पैसा देने से अब भाई देखता चलो हमारे पास बहुत पैसा छुट्टी से बताओ उसके पैसे दे दो हम्म, तो पैसा उसका मूल्य भी नहीं वो अमूल्य विद्या जिसका कि मूल्य पैसे से नहीं नापा जा सकता ऐसी विद्या विद्या है दूसरे दिव्य विद्या है लौकिक है नहीं और जो अर्थ है वो लौकिक वस्तुओं का मापदंड है और विद्या अलौकिक वस्तु है तो ये लौकिक मापदंड अलौकिक वस्तु का मापदंड कैसे बन सकता है कितने पैसे से इतनी विद्या प्राप्त हो लौकिक विद्या का मापदंड अर्थ हो सकता है लौकिक विद्या भौतिक विद्या स्कूल की प्राप्त हो सकती है कैसी है लेकिन आध्यात्मिक विद्या का मापदंड ये उसके बदले में क्या क्या करें क्या अब ये उसके प्रत्युपकार में अगर कोई अब कालभूषण जी उसके बदले में उससे कुछ स्वीकार कर ले जरूर से तो क्योंकि चलो प्रत्युपकार हो जाए और उसका बदला हो जाए कुछ लेकिन ये जरूर सोचते कि इनको अब क्या दें देवी जो है ना गरुड़ कालभूषण जो है स्वयं कर सकते हैं आपके काम पूर्ण काम है उन्हें कुछ तो चाहिए नहीं जब चाहिए नहीं तो उनको दे जाता दे करके उसको जो है पूरा करें तो इसके लिए जो है वो अन्यत्र जहाँ गुरु शिष्य परंपरा है वहाँ पर दूसरी व्यवस्था रखी है गुरु शिष्य को अध्यात्म विद्या देता है वो उसका निवारण करता है और उसको सुख भी देता है शांत विश्राम मिलती है तो उसके बदले में वो गुरु को देता है लेकिन गुरु जानता है कि हमको कुछ चाहिए नहीं गुरु जब उससे कहे कि तुम इसके बदले में हमको ये दो तो वो कुछ मानता नहीं इससे चाहता नहीं तो व्यवस्था ये बनाई गई कि जिस प्रकार से तुमने अपने गुरु से ये विद्या ग्रहण की किसी प्रकार से इसको शासन करो उसका लाभ उठा लो हम्म, उसका आनंद प्राप्त कर लो और अपने पास इस विद्या को जो आई है उसको आगे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करो जब दूसरे की विद्या किसी को ये विद्या देंगे तो फिर जो वो विद्या ग्रहण करने का ऋषि गण है तो ऋषि गण के अंतर्गत लाते वो ऋषि गण तुम्हारा जो है उतर जाएगा दूसरे को विद्या देकर तो इसलिए विद्या प्राप्त भी करो और ये विद्या को दूसरे को दो अब वो विद्या लौटाल करके गुरु को दे दी जा सकते जैसे महाराज आपने गुरु विद्या हमें ये दी अब हम लौटाल करके आपको दे दें जिससे बराबर हो जाए उसको गुरु देने में तो पहले विद्या उसी के पास देने के बाद में विद्या उसके पास उसके पास तो कमी नहीं इसलिए अब यही है कि जिसके पास न हो ये विद्या किसको जब ये विद्या उसको दूसरे व्यक्ति को दोगे तो तुम्हारा ऋण उतर जाएगा और जब ऋण उतरेगा और मन में जो आएगा कि हम इस ऋण को उतारना चाहते हैं दूसरे को देना चाहते हैं वहीं से उस विद्या का फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा जब दूसरे को ये फल जहाँ दिए विद्या दूसरे को दे कहा उस विद्या का फल अपने अंदर अंतर में आने लगेगा क्योंकि ऋण उतर गया भाव उतर गया सबसे तो वो भाव जो था वो विद्या का आनंद नहीं दे पा रहा था वो आनंद देने लगेगा और फिर तत्व का ये परंपरा इसीलिए जो है यहाँ पर ये जरूर कहते हैं कि हम आपका प्रत्युपकार क्या करें तो कहते हैं कि मोह पर हो ही न उपकारा अब आपके बदले में आपको उनका देश दें तो उतनी सुनना था बस ये बदलों तब पद बार ही बारह दस बार बार मारते तो उन्होंने वंदना करते हैं जब प्रत्युत्कार तो जिसका भी न कर सके उसका व्यक्ति उसका रिलीव हो जाता है रिलीव हो जाता है मन उसके अधीन हो जाता है उसकी सेवा में रहता है ये कहते हैं हम आपके ऋणी हैं और आपकी सेवा में आपकी चरणों की बार बार बंदना करते हैं पूर्ण काम राम अनुरागी अब ये कहते हैं कि अब उनकी प्रशंसा करते हैं काव्य की कि आप तो पूर्ण काल अब वही बात जब भी बोल रहे थे वही बात यहाँ पर प्रभु के मन में आई कि हम तो सत्कार क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है वो पूर्ण काम पूर्ण काम है आपकी किसी प्रकार की कामना है सब कामनाएं आपकी पूरी है इसलिए हम आपसे कहें कि बोलो इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते आप कुछ ले लो अब वो काल अपने मन में सोचने लगे अच्छा कमी हम क्या से मान लिए तो जब कमी हो तब कुछ मान लो और पूर्ण काम होगा तो क्या मान लो पूर्ण काम कुछ मान लो इसलिए तुम पूर्ण काम हो पूर्ण काम पूर्ण काम और पूर्ण काम का सही है काल काव्य समझिए लेकिन कारण आगे कहते हैं आप पूर्ण काम हो क्योंकि राम अनुरागी क्योंकि जोड़ लो जो राम अनुरागी है वो पूर्ण काम है जब तक भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आती तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होती कुछ न कुछ बनी ही रहती है किसी न किसी प्रकार और जहाँ भगवान की भक्ति आ गई तो फिर काम हो गया फिर कोई कामना नहीं होगी आपके काम हो गया पूर्ण काम हो गया कृतकृत्य हो गया ये उसी के परिणाम शुरू होता है क्योंकि आप राम अनुरागी हो इसलिए और जो इस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त करिए और पूर्ण काम हो जाए कृतकृत्य हो जाए बताओ वो भाग्यशाली है कि नहीं है हाँ? तो कहते हैं कि तुम संपात न को तो बड़ भागी तुम्हारे समान और कोई भाग्यशाली नहीं अभी अपने शास्त्र के अनुसार अध्यात्म विद्या के अनुसार भाग्यशाली कौन बड़भागी कौन और संसार में बड़भागी कौन प्रसिद्ध है कौन अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानने वाले संसारी दृष्टि क्या है हाँ? तो ये बात भी दूसरे लोगों को बड़ा भाग्यशाली बोलते हैं साधु तो बड़ा भाग्यशाली है हम्म? तो किस दृष्टि से बड़ा भाग्यशाली बोलते हैं तो वे भाग्यशाली है कि किस प्रकार की इस बात के संग जैसे जो भगवान राम कल्याण राज्य है और पुत्र करते हैं ये भाग्यशाली तो जब तक ये न मालूम हो कि वास्तव में भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति हैं तब तक ये तो सब जो संसारी उपलब्धियां हो जाती है उसी में भाग्यशाली अपने आप को मानते रहते हैं अपने आप को उसी में प्रकार प्रकट मानते रहते हैं बस बस यही अविद्या यही माया है जहाँ उत्कृष्टता है नहीं और जहाँ भाग्य की बात है नहीं वहाँ व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली माने ये माया भाग्यशाली जो होने के लक्षण है वो उसे पता भी नहीं तो माया के कारण जो सत्य है उसका ज्ञान भी नहीं कि भाग्यशाली कैसे जिसे कैसे होता कैसे है ये मालूम ही नहीं तो नहीं मालूम तो नहीं मालूम बस यही अविद्या है यही माया समझता कोई भागी संत की तो सरिता गिरी देखो संतों की महिमा और सप्तम की महिमा बोलते इनको भी समझ में आ गया ना कि संत कैसे होते हैं तो वो संत कैसे होते हैं वो भी बताते हैं सत्संग कैसा होता है वो भी बताते हैं क्योंकि ये सब ज्ञान आ गए भक्ति आ गई ये सब सत्संग से आती है इसलिए सत्संग की महिमा बार बार करनी पड़ती संतों की महिमा सत्संग की महिमा उसी के साथ ज्ञान की महिमा भी है भक्ति की महिमा भी है उसी के साथ साथ इसलिए तो संत कविता गुरु धरनी परहित हित सबन जय करनी संत जिसे कहते हैं परहित हित सबन की करनी ही हित जो दूसरे के हित में लगे रहे उनको संत संत के उदाहरण रूप में बोल दिए चार विकल्प सविता जो धरणी ये चारों जो है जो परहित हित जैसे दक्ष जो वृक्षों में फल लगते हैं वो फल लगते हैं दूसरों के लिए लगते हैं छाया दूसरों के लिए लगते दूसरों के लिए तो इसलिए जैसे ये वृक्षों में ये सब होती है दूसरों के लिए उनका जीवन ऐसे चलता पानी बहता है तो पानी को स्वयं पानी जो नदी खोले पानी पीती और उसको पानी जरूरत नदी को खोले नदी लेकर के पानी बहा रही है तो दूसरे लोग प्यासे लोग पी रहे हैं नहा रहे हैं जल का उपयोग कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए नदी इस प्रकार चलता है गिर है पर्वत है ये भी दूसरे लोगों के लिए पर्वत है